अवधपुरी अति रुचिर बनाए देवन सुमन वृष्टि झरिलाए राम कहा सेवकन बुलाए प्रथम सखन अनवा जाए सुनत बचन जह तह जन धाये सुग्रीवादितुरत अनवाए पुन करुणा निधि भरतु हकारे निज कर राम जटानियरारे अनवाए प्रभुति नहु भाए भगत बचल कृपाल रघुराये अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया फिर करुणानिधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया अनवाये प्रभुति न भाये भगत बचल कृपाल रघुराये भरत भाग्य प्रभु सत सकिन सत्सकहिन पुन निज बिबराये विवराय अनुशासन मागिनहाये कर्म जन प्रभु भूषण साजे अंगयन अंग देखि सतलाजे तदनंतर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए सासुन सादर जान के मज्जन तुरत कराए देव्य वसन बरभूषण अङ्ग अङ्ग सजे बनाय राम दिश शोभते गुण खान देखि मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जन् सुनखगे अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृन्द चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुख कंद इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए पहना दिए श्री राम के बाई ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई काकभुसुंड जी कहते हैं हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए उस समय ब्रह्मा जी शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा तुरत देव्य सिंहासन मागम रवि सम तेज न जाए बैठे राम द्विजन सिरुनाई जनक सुता समेत रघुराए देखी प्रहर से मुनि समुदाय वेद मंत्र तब द्विजन उचारे नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे प्रभु के देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया आकाश में देवता और मुनि जय हो जय हो ऐसी पुकार करने लगे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम मुनि सब बे प्रणयाय सुदीना सुत विलोक हर्षे महतारे बार बार आरती उतारी विप्रण दान विविध विधि दीने जाचक सकल जाचक की सिंहासन पर त्रिभुवन साये देख सुरन दुंद भी बजाई सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी उतारी उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया माला माल कर दिया त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए नब दुंधु बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि नाचहि अप छरा बृंद परमा नंद सुर मुनि पावहि भरतादि अनुज विभीषणांगद अनुमदादि समेत ते गह छत्र चामर व्यजन धनुवसि चर्म शक्ति विराजते आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं अप्सराओं के झुंड के झुंड नाच रहे हैं देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोही नव अम्बुधर बर गात अम्बर मुकुटांग चेत्र भूषण अंग पीतसुरमनमोहहि मुकुटाङ्गदादिविचित्रभूषण अङ्गयङ्गनि प्रतिसजे विशाल विशालमुरभुज धन्य नर निरखंति जे श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं कमल के समान नेत्र है चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है वह शोभा समाज सुख वह शोभा समाज सुख कहत मन ही खगेश ही शारद शेष श्रुते सोरस जान महेश भिन्न भिन्न यस्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंद बेस वेद तब आए जह श्री राम प्रभु सर्वज्ञ किन्नयति आदर कृपा निधान लखे काहू मरम कछो लगे करन गुणगान वे पक्षीराज गरुण जी वह शोभा वह समाज और वह सुख मुँह से कहते नहीं बनता सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी जानते हैं सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना वेद गुणगान करने लगे